ॐ तया असमर्थ्यो मृतो भवती एकुशासन ओ की दृष्टि से पाप क्रिया द्वेष है दोष है पाप कर्म ही दोष है और पूर्ण कर्म भला है भक्ति की दृष्टि से पाप और पुण्य का अभिमान ही दोष है पाप और पुण्य दोष नहीं और तत्व ज्ञान की दृष्टि से इस अज्ञान के कारण ये अभिमान होता है वो अभिमान ही दोष है वो अज्ञान ही दोष है अभिमान और कर्म ये तो उसके बच्चे कच्चे हैं तो थोड़ी सी धर्म की दृष्टि पर भी विचार करूंगा लोग भी ये बात मानते हैं कि पाप कर्म तो स्वरूप से ही दोष है चोरी जुआ व्यभिचार अनाचार जिस समाज में जिस वर्ग में जिस संप्रदाय में जिस शास्त्र के अनुशासन को संविधान के अनुशासन को मान करके हम रहते हैं उसके विपरीत यदि आचरण करेंगे तो हमारे मन में ग्लानी आवेगी घृणा आवेगी अपने को हीन समझेंगे इसलिए उसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए अपने हाथों ही हम अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारेंगे यदि अपने ही संप्रदाय संविधान समाज जाति संप्रदाय और वर्ग के द्वारा स्वीकृत जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करेंगे धर्म की दृष्टि ये है अब नारायण बोले ठीक है पाप तो होवे तो दोष है परंतु पुण्य भी तो होता है बोले पुण्य होता है तो गुण है तो पुण्य में कोई दोष है कि नहीं तो आप जानते ही हो सर्वारंभा दोषे न झूमे नाग्नि देवावृता ऐसा कोई आरंभ माने हमारे प्रयत्न से निष्पाद्य प्रयत्न से होने वाला प्रयत्न पूर्वक होने वाला ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें कोई न कोई दोष न हो ऐसा है ऐसा नहीं है कि चावल पकावे और उसमें उसके साथ साथ कोई कीड़ा न पक जाए ये सावधानी कुशल रसोइये के द्वारा भी ये व्यवस्था संपन्न नहीं हो सकती तो भाई हमारे शरीर में जो खाद है दाद है फोड़ा है वो मिट तो जाए लेकिन कोई जर्म से न मरे जैसे ऐसा होना शक्य नहीं है ऐसे कोई ऐसा पुण्य नहीं होता कोई ऐसी आग नहीं होती जिसमें धुआं न हो और कोई ऐसा कर्म पुण्य नहीं होता जिसके साथ थोड़ा पाप न लगा हो और एक बात ये भी है जैसे आप ध्यान नहीं दो तो बात दूसरी है कि ऐसा कोई पाप भी नहीं होता जिसमें कहीं न कहीं थोड़ा पुण्य न लगा हो हमको तो कोई पाप क्रिया पुण्य क्रिया का विचार नहीं करना है भाव का ही विचार करना है तो धर्म की दृष्टि से पुण्य में भी दोष होता है तो कहते हैं कीर्तन करने से दोष होता है यदि पूर्ण करके और उसका कीर्तन करें लोगों को सुनाएं तो पूर्ण क्षय हो जाता है तो बोले ये कीर्तन को इन्होंने पूर्ण क्षय का हेतु क्यों माना है इस पर आप विचार करोगे तब मालूम पड़ेगा तो इसलिए माना कि यदि पूर्ण का अभिमान न होता तो मैंने ये ये पुण्य किया है ये कीर्तन कहाँ से करते तो धर्म की दृष्टि से मानसिक जो अभिमान है उसको तो पाप मान नहीं सकते जब वो क्रिया में आवेगा जब उसको पाप मानेंगे तो जब कीर्तन किया गया मुंह से उसका भाषण किया गया तो क्रिया में आ गया वो अभिमान जो है वो अभिव्यक्त हो गया उसकी अभिव्यक्ति हुई क्रिया में आ गया क्रिया में आ गया तब धर्मात्माओं ने पकड़ लिया कि ये ये दोष है राजा जजाति स्वर्ग में गए और इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे और इंद्र ने पूछा हाँ आप तो बड़े पुण्य आत्मा क्या क्या पुण्य आपने किया है जो आए तो कीर्तन करना शुरू किया हमने इतना दान किया और हमने इतना व्रत किया और हमने इतना भोजन कराया थोड़ी देर के बाद इंद्र ने ढकेल दिया सिंहासन से जाओ नीचे मुंह गिरो तो भक्ति की दृष्टि से ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर की शक्ति से ईश्वर के सहयोग से जो कर्म किया जाता है उसमें अपने को कर्ता मान बैठना ये ईश्वर का तिरस्कार होता है ये ईश्वर का तिरस्कार होने से भक्ति सिद्धांत में वो पाप हो जाता है अच्छा तो वेदांत की दृष्टि से क्या है वेदांत की दृष्टि से कहते हैं कि चाहे पाप हो चाहे पुण्य असल में अपने में जो कर्तृत्व है वही दोष है अभिमान ही दोष है कर्तृत्व माने अभिमान तो जैसे पुण्य का अभिमान दोष है वैसे पाप का अभिमान भी दोष है और ये दोनों क्यों आते हैं बोले ये दोनों आते हैं अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को न जानने के कारण या आत्मा से अभिन्न ब्रह्म को न जानने के कारण अपने को परिपूर्ण तत्व न जानने के कारण ही अपने को हम कर्ता और भोक्ता मानते हैं भोग से नहीं होना चाहिए पाप केवल कर्म से ही होना चाहिए क्योंकि भोग जो है ना वो तो कर्म का फल है ऐसे आपको तो, आप लोग ब्रह्म की बात रोज सुनते हैं आज थोड़ी ऐसी भी सुन लो है ना भोजन करने से पाप नहीं होना चाहिए है कि वो तो आपके कर्म का फल है जैसे वेतन लेने में पाप नहीं है किसी की मजदूरी की और उससे वेतन मिला तो वेतन लेना पाप तो नहीं है तो ऐसे हमने कोई कर्म किया और कर्म के फल स्वरूप हमको भोग मिला भोजन मिला तो भोजन करना पाप नहीं होना चाहिए लेकिन भोजन में भी पाप आ जाता है कैसे आता है भोजन में पाप ऐसे आता है कि अपने वर्ग ने जाति ने समाज ने राज्य ने है ना संप्रदाय ने जो मर्यादा बना रखी है ना उसका उल्लंघन तुमने क्यों किया प्रश्न ये है तो वासना के बसीभूत होके उल्लंघन किया तो वासना के बसीभूत हो जाना तो गुलामी है गुलामी तो खुद पाप है वासना का गुलाम होना पाप है और ईश्वर ने ये भोग दिया यहीं तक दृष्टि नहीं रही तुमने जबरदस्ती अपने अभिमान को जोड़ करके एक कर्म उसमें किया एक ने कहा देखो ये माल चोरी का है तुमको नहीं खाना चाहिए तुम्हारे मन में एक एक बैठा है उसने कहा कि चोरी का माल नहीं खाना चाहिए तुमने कहा कि चोरी का माल है तो क्या मैं तो खाऊंगा तो उसमें खाने का दोष नहीं हुआ हो ये चोरी का माल है नहीं खाना चाहिए ऐसा जो अंतर का निषेध था उस निषेध का उल्लंघन करने के कारण कर्तृत्व का अभिमान इतना प्रबल हो गया कि उसमें पाप आ गया भोजन में पाप आ गया भोजन में पाप कैसे आया कि मर्यादा का उल्लंघन विधि का उल्लंघन उल्लंघन जो है वो अत्यंत कर्तृत्व से ही होता है जहाँ कर्तृत्व परिपुष्ट होता है वहीं उल्लंघन होता है मर्यादा का तो दोनों का अभिप्राय ये हुआ अच्छा तो देखो भोग में तो पाप होना ही नहीं चाहिए अब रहा ये कि कर्म में पाप हो गए तो कर्म करते हैं दूसरे समय और पाप मानते हैं दूसरे समय करते समय पाप की उतनी प्रबल भावना नहीं होती है बाद में पाप की भावना दिमाग पर खा जाती है तो करता तब कर्म तो नष्ट हो गया कर्म तो पांच मिनट हुआ आधा घंटा हुआ घंटे भर हुआ वो कर्म का समय भी गया वो कर्म का स्थान भी गया उस कर्म का भी लोप हो गया अब वो फल कहाँ से देगा पाप कहाँ से होगा बोले कर्म का समय भी नष्ट हो गया स्थान भी बदल गया और तुमसे कर्म भी अब इस समय नहीं हो रहा है लेकिन मैंने किया ये जो अभिमान भीतर बैठा हुआ है उस कर्ता बने के अभिमान में पाप बैठा हुआ है तो दोनों स्थिति में ये बात आई कि पुण्य में भी कर्तापन का अभिमान दोष है और पाप में भी कर्तापन का अभिमान दोष है ये अब भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु जैसा कराता है वैसा होता है यद कृतम यद करिष्यामी तत्सर्वम न मया कृतम स्वया कृतम तो फलभुक त्वमेव मधुसूदना जो कुछ मैंने किया और जो कुछ करूंगा तो मैंने नहीं किया तुमने किया कराया प्रभु है तुम ही कर्म करावन हार है तुम ही करने वाले हो और तुम ही कराने वाले हो <clears throat> देखो दिमाग हल्का हो जाएगा हाँ। बोले कि ठीक है ये विश्वास की बात बहुत अच्छी है जो श्रद्धालु हैं जो विश्वासी हैं वो बोलते हैं हम हुक्मी हैं हम रकमी थोड़े हैं हम हुक्मी की रकमी तो हुक्म देने वाला भगवान है प्रेरक भगवान है लेकिन तत्व ज्ञान जो है उसकी पद्धति दूसरी है वो कहता है कि असल में तुम कर्ता भी क्यों बने भोग के कर्ता क्यों बने भोग के कर्ता क्यों बने कर्म के कर्ता क्यों बने बोले हम कर्ता हैं इसलिए कर्ता बने हमने किया इसलिए हम अपने को मानते हैं कर्ता बोले तुम अपने आप को जानते नहीं हो अस्तित्व उपलब्ध से तत्व भाव भाव प्रसिद्ध थी पहले तुम अस्थि अस्थि रूप में केवल अस्थि मात्र अस्थि में जो विशेष है तो नहीं जैसे कोई मृतिका को देखे ये अंगूर है कि आम है इसको न देखे काली मिट्टी को देखे हमारे बचपन में कहीं सुना था तुलसी का पौधा होता है ना तुलसी का पौधा तो जब सूखने लगता है या पत्ते नहीं निकलते हैं तो ये जो हम लोग चाय पीते हैं ना चाय चाय छानने के बाद जो बच रहता है ना उसको अगर तुलसी के पौधे के जड़ में डाला जाए और शक्कर नहीं हो शक्कर नहीं नमक नहीं गर्म पानी नहीं गर्मा गर्म नहीं वो जो चाय का घुस निकलता है ठंडा होने पर अगर उसको तुलसी की जड़ में डाल दें तो तुलसी उसको बहुत बढ़िया खाद मानती है और हरी भरी हो जाती है उसमें पत्ते निकल जाते हैं वो बढ़ने लगती है ऐसा बचपन में सुना था मालूम ये पड़ता है कि जैसे तुलसी के पत्ते होते हैं उससे मिलते जुलते चाय के पत्ते होते हैं हैं? और तीक्ष्णता भी चाय में और तुलसी में दोनों में एक तरीकी होती है तो जो जो खाद के जो तत्व चाय में होते होंगे वो तुलसी को अपेक्षित होते होंगे इसलिए तुलसी की वृद्धि होती है उससे ऐसा लगता है ये वो अन्वय व्यतिरेक से ये बात सिद्ध होते हैं ये तो बहुत मामूली बात है तो मामूली बात ये है इसमें कि तुम उसमें यदि चाय के पत्ते को खाद के रूप में तुम्हें प्रयोग करना है तो चाय की विशेषता का तो अब कोई ध्यान नहीं रहा ना कि ये पीने की चीज है ये ध्यान नहीं रहा वो तो खाद हो गई खाद हो गई तो मिट्टी हो गई मिट्टी हो गई तो जो लोग संसार की वस्तुओं को बहुत प्रयोजनीय समझते हैं तो उनको संसार की वस्तुओं से राग द्वेष बना रहता है और राग द्वेष बना रहता है तो तत्व की दृष्टि से उसको नहीं देख पाते कोई ऐसा पौधा होता है जिसमें अंगूर की भी खाद पड़ती है हमारे खुर्जा में एक सेठ हैं उनके यहाँ एक आम का पौधा लगाया गया तो जब से वो आम का पौधा लगाया गया तब से अब तक उसको दूध से ही सींचते उसकी सिंचाई दूध से हुई और दशहरी आम अब वो दशहरी आम खाओ तो अलग से दूध मिलाने की जरूरत नहीं पड़ते दूध दूध से मिला हुआ जैसा आम होता है ऐसा उसका स्वाद है तो ये इसी का नाम हुआ संस्कार देखो आम में दूध का संस्कार हो गया दूध का संस्कार होने से आम जो है वो दूध के स्वाद से युक्त हो गया तो ये जितने बीज हैं ये पंचभूत रूप नहीं है अमुक अमुक संस्कार से संस्कृत है यदि तुम्हें अमुक संस्कार से जनित वस्तु की जरूरत नहीं है तो वो पंचभूत मात्र है अब आप देखो कि ये तुम्हारा जीव है जीव क्यों हो तुम जी जो जीव वो तो आपको कई बार सुना चुका हूँ कि जड़ में जैसे संस्कार से युक्त मिट्टी को पंचभूत को ही बीज बोलते हैं चना क्या मिट्टी नहीं है गेहूं क्या मिट्टी नहीं है और चना भी पंचभूत गेहूं भी पंचभूत लेकिन चने में संस्कार दूसरा है और गेहूं में संस्कार दूसरा है उसका पौधा दूसरे ढंग का उसका पौधा दूसरे ढंग का उसके फल दूसरे ढंग के उसके फल दूसरे ढंग के उसमें गुण दूसरा उसमें गुण दूसरा उसका स्वभाव और ऋतु दूसरी उसका स्वभाव और ऋतु दूसरा पर है तो सब पंचभूत न ऐसे हम सब लोग जो बैठे हैं मनुष्य पशु पक्षी ये काहे का भेद है ये समझो पंचभूत में ही संस्कार का भेद है ये अमुक अमुक संस्कार से युक्त वीर के द्वारा स्त्री का जन्म हुआ अमुक अमुक संस्कार से युक्त बीज के द्वारा पुरुष का जन्म हुआ अमुक अमुक संस्कार से युक्त बीज के द्वारा पशु का पक्षी का मनुष्य का उसमें माता पिता का साचा भी काम देता है नाना नानी नाना नानी का भी असर रहता है लेकिन इस बात को अगर हम बहुत दूर तक ले जाएं तो परब्रह्म परमात्मा का जो अज्ञान है ना उस अज्ञान में जितने संस्कार अब तक हैं उन सबका असर है ये नहीं समझना कि तुम्हारे अंदर सांप के संस्कार नहीं है हाँ। और ये नहीं समझना कि शेर के संस्कार नहीं है मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी हैं? जब तुम्हारा किसी को नोचने का मन होता है तो बंदर के ही संस्कार जागते हैं और जब किसी को है ना मुंह से काटने का संस्कार जन जगता है तो सांप के ही संस्कार जगते हैं शेर के ही संस्कार जगते हैं और जब किसी को अपने दूध से तुम तर कर देना चाहते हो वात्सल्य के संस्कार जगते हैं तो गाय के ही संस्कार जगते हैं तो अब ये जो तुमने अपने को संस्कार युक्त मान रखा है को मान रखा है क्यों इसलिए कि आम का बीज संस्कार युक्त है अंगूर का बीज संस्कार युक्त है तो तुम चेतन जीव भी संस्कार युक्त हो <clears throat> बोले देखो यही एक बात का विशेष ध्यान में रखने का है कि जड़ बीज जो है उसमें वस्तुतः संस्कार लिप्त हो जाते हैं वो भी जड़ होने के कारण बना जड़ होने के कारण उसमें भी तत्वतः संस्कार का लेप नहीं होता क्यों नहीं होता का आग से यदि उन बीजों को जला दिया जाए तो तत्त संस्कार मिट के केवल पंचभूत ही रह जाएगा आपको ये बात शायद स्मरण में हो न हो कि हमारे जो कट्टर वेदांती होते हैं वो पंचभूत में इन बीजों को और संस्कारों को विवर्त मानते हैं वास्तविक नहीं मानते हैं कहते हैं कि यदि पंचभूत वास्तव में आम हो जाता या अंगूर हो जाता या इमली हो जाता या स्त्री हो जाता या पुरुष हो जाता तो आग से जलाने के बाद सब के सब पंचभूत नहीं रहते इसका अर्थ यह है कि पंचभूत अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता है संस्कार के कारण वैसा वैसा मालूम पड़ता है फिर सड़ने के बाद <clears throat> गलने के बाद जलने के बाद अंत में उसी दशा को उसी दशा को पहुंच जाता है यहाँ तक कि चने और गेहूं का जो बीज है ना वो जब अंकुर बनता है तो मालूम पड़ता है कि वो तो अंकुर हो गया तो अंकुर नहीं होता है वो फिर बीज हो जाता है फिर बीज हो जाता है बीज का उपादान दूसरा था और जो पैदा हुआ उसका उपादान दूसरा है जो पंचभूत जड़ में गाड़ा गया था उसके संस्कार ही तने में होकर के आए एक गेहूं से जो दस गेहूं पैदा हुए वो पहले गेहूं वाला उपादान ही पिछले दस गेहूं में नहीं है पंचभूत तो दूसरा है लेकिन वो जो साचा है उसका गुण है आकृति है वो सब की सब आई है वो सब पंचभूत के विवर्त हैं तो ये माने हम लोग ऐसा मानते हैं कि सोने से जो जेवर बनता है वो सोने का परिणाम नहीं है सोना बदला नहीं ज्यो का त्यों रहा जेवर जो है वो सोने का विवर्त है केवल अन्यथा भान मात्र है जेवर के पहले जैसा सोना था जेवर टूटने के बाद जैसा सोना रहेगा जेवर में भी सोना वैसे ही है इसको हम परिणाम बाद नहीं मानते विवर्त ही मानते हैं और ये पंचभूत में जितने प्राणी और जितने वृक्ष जितने पशु जितने पक्षी ये पंचभूत में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं ये सब पंचभूत के परिणाम नहीं है पंचभूत का विवर्त ही है घड़े की पूर्वावस्था जो है ना माटी का लोदा वो कारण हो और घड़ा कार जो हो ऐसा नहीं पहले भी मिट्टी ही और घड़ा भी मिट्टी और घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी मिट्टी में भी घड़े में भी जो कार्य कारण भाव है वो बिल्कुल अध्यस्त है हाँ। अध्यस्त है माने मिट्टी पर नजर न जाने से ही घड़ा पैदा हुआ मालूम पड़ता है अच्छा एक बच्चे को घड़ा दिखाओ और उसको मालूम नहीं है कि पहले माटी का लोंदा होता है उससे ये घड़ा बना है जिसको घड़े की पूर्वावस्था का ज्ञान नहीं है वो घड़े की कारण दशा का अनुमान कैसे कर सकता है वो तो मिट्टी है बस इतना ही तत्व दृष्टि इतनी है कि मिट्टी है तो अब देखो पहले कार्य कारण भाव की उपाधि से ब्रह्म स्वरूप का अपने स्वरूप का निश्चय करो परंतु ये कार्य कारण भाव जो है ये वास्तविक नहीं है मन तात्विक नहीं है ऐसे कहो धातविक नहीं है वो धातु में नहीं है मैटर में नहीं है मैटर में कार्य कारण भाव नहीं है तात्विकी को तत्व बोलते हैं तो कार्य कारण भाव अध्यस्त है माने कार्य कारण दोनों के अधिष्ठान का ज्ञान न होने से पहले कारण और पीछे कार्य मालूम पड़ता है असल में कार्य कारण का पूर्वा प्रभाव पहले होना पीछे होना बाहर होना भीतर होना सूक्ष्म होना स्थूल होना ये है ही नहीं तो तत्व भाव प्रसिद्धि का क्या अभिप्राय है कि पहले देखो कि अस्त शक्ति के सिवाय न घड़ा है न मिट्टी है न उसकी शकल है अस्थि ही अस्थि है तो इस कार्य कारण भाव का वर्णन जब धर्मात्मा लोग वर्णन करते हैं ना कार्य कारण भाव का तो कहते हैं कि कर्म के निमित्त से कार्य कारण भाव होता है के निमित्त से होता है जैसे चाकी से लोहे में मार के कैसा भी स्लेट बना लें है ना हथौड़े से पीट के गोल या लंबा उसको बना लें तो ये कर्म हुआ ना टाकी से कर्म होता है हथौड़े से कर्म होता है कर्म के द्वारा लोहे में शकल बनती है वसीले से लकड़ी में शकल बनती है रुखानी से वसीले से आरी से हाँ, लकड़ी में शकल बनती है सोना सुनार जो है वो गला के या पीट के सांचे में ढाल के शकल बनाता है तो जड़ में जितनी शकलें बनती हैं वो कर्म से बनती हैं तो नारायण धर्मात्मा लोगों का भी यही ख्याल है कि ये जीव को जितनी शकलें मिलती हैं वो कर्म से मिलते हैं है ना परंतु ये तो तब होता जब जीव और ईश्वर करता होते और जीव ईश्वर चैतन्य दोनों चैतन्य का काम प्रकाशना है करना नहीं है अच्छा तो सांख्यवादी कहते हैं कि नहीं प्रकृति से होता है लेकर ही ऐसा है बोले कुछ भी हो अस्थि मात्र ही है कर्म और अस्थि मात्र ही है प्रकृति तो बौद्धों ने कहा कि ये केवल विज्ञान है मालूम पड़ता है कि ये परमाणु है ये प्रकृति है ये फलाना है ये ठिकाना है है ना तो बोले ईश्वर करता है कहिए तुम्हारा अनुमान है है ना जैसे जड़ कारण का अनुमान प्रकृति है बोला वैसे चेतन कारण का अनुमान ईश्वर है कारण की वासना से बाधित जो अंतकरण है वो जब जगत के कारण को ढूंढने लगता है और जड़ के द्वारा इसकी संगति लगाते चलता है तो प्रकृति पर पहुंचता है और जो वही कारण कारण कार्य श्रृंखला की वासना से बाधित जो अंतकरण है वो जब चेतन कारण का अनुमान लगाने लगता है तो ईश्वर पर पहुंचता है तो जन्माद्य से जता सूत्र की जब व्याख्या करनी होती है ना जन्माद्य से जता हाँ। या जतो बाईमान भूतानी जायंते इस श्रुति की व्याख्या करनी पड़ती है अहम सर्वस्व प्रभाव इस गीता की व्याख्या करनी पड़ती है तब कार्य कारण भाव का निरूपण करते हैं कार्य कारण भाव इसको बोलते हैं तो बोले कार्य कारण का जो निरूपण करते हैं शास्त्र में लिखा है तो ये सच्चा हुआ ना हाँ। <clears throat> तो बोले कि शास्त्र जो निरूपण करता है वो प्रयोजन बस है ना वो प्रयोजन बस निरूपण करता है यदि कार्य की कारण में एकता होती है या कार्य कारण में लय होता है और कार्य कारण में से निकलता है इस ढंग से यदि प्रतिपादन न किया जाए तो जो सरल बुद्धि के लोग हैं उनकी समझ में ये बात कभी आवेगी ही नहीं कि इस अनेकता में कोई एकता भी भरी हुई है तो अनेकता में एकता भरी हुई है इस समझदारी को सुगम करने के लिए कारण की एकता और कार्य की अनेकता बताई जाती है तो बोले भाई किस लिए बता फिर ये कार्य कारण सच्चा बोले कि नहीं ये अद्वितीय को समझने में उपयोगी अद्वितीय का सामीप्य हाँ। हाँ। एक में से अनेक निकला एक में से अनेक कैसे निकला एक कांपता है और अनेक मालूम पड़ता है देखो एक कांपता है और अनेक मालूम पड़ता है या एक दो बन जाता है तो यदि एक कांपता है और अनेक मालूम पड़ता है देखो तब तो अनेक बना नहीं एक ही है और यदि एक एकत्व का नाश होकर नष्ट होकर के एक का एकत्व दो बनता है तो दो भी नहीं बनेगा जब एकत्व ही नष्ट हो गया तो दो पना क्या बना रहेगा और जब दो पना नष्ट होकर तीन होता है तो क्या तृत्व बना रहेगा जब एक ही नष्ट हो गया कारण नष्ट होकर के यदि कार्य की उत्पत्ति होती है तब तो कार्य भी नष्ट प्राय ही है और कहो कि एक के कंपन से अनेक की प्रतीति होती है तो एक में कंपन होता है कि बुद्धि में कंपन होता है प्रश्न ये है कि एक कांपता है कि बुद्धि कांपती है बोले एक नहीं कांपता है बुद्धि कांपती है, है? तो एक जो है वो कांप के कभी दो नहीं बनता है कंपन होकर के एक कभी दो नहीं बनता है वो तो अद्वितीय ही अद्वितीय है उसमें बुद्धि दो की है अब देखो जैसे मन का कंपन ही स्वप्न है तत्व का कंपन स्वप्न नहीं है मन का कंपन स्वप्न है इसी प्रकार अद्वितीय परमात्मा में ये जो शत्रु है मित्र है पशु है पक्षी है मनुष्य है देवता है दानव है मानव है पाताल है मर्दलोक है स्वर्ग है है ना ऊपर है नीचे है मध्यवर्ती है दाहिने है बाएं है बीच में है बाहर है भीतर है, है कार्य है कारण है कारण है और पहले है पीछे है बीच में है ये सब मन कंपन है तत्व कंपन नहीं कहिए मन क्या है अरे बाबा हम न होए तो मन कुछ होए तो कंपन को प्रतीत करने वाला मैं मन हूँ और कम कंपन के बाधित होने पर जो मैं हूँ सो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपना निज स्वरूप हूँ तत्व तो भाव प्रसिद्ध थे तो पहले कार्य कारण भाव की उपाधि से विचार करो और विचार करने के बाद क्या होगा बोले तत्व भाव प्रसिद्धति तत्व भाव जो है तो सत्कार जो उपाधि अस्तित्व प्रत्यय से घड़ा नहीं घड़े में जो सत है मिट्टी नहीं मिट्टी में जो सत है, है? मूची नहीं जो गुडूची की सख है एक गुरुची औषधि होती है ना गुरुच गुरुच बोलते हैं गुरुच है ना तो उसके पंचांग की सत निकालते हैं ये गुरुच की सत है ये सौंफ नहीं ये सौंफ की सत है हाँ नींबू की सत है हाँ, ओ कटाई डालते हो नींबू नहीं नींबू की सत है ये शक्कर नहीं शक्कर की सत है है ना तो जो घड़े की सत है उसका नाम रूप जो चोर मन में जिस बुद्धि में घड़े का नाम रूप भाग रहा है उसी बुद्धि में घड़े के नाम रूप को बुद्धि में हाँ, हाँ, हथौड़े से मार के नहीं बुद्धि में घड़े का नाम रूप चूर चूर करने पर जो सत है मिट्टी पानी आग हवा आकाश को तो चूर चूर कर देने पर जो सत है वेद काल वस्तु के भेद को चूर चूर कर देने पर जो सत है, है जिसमें नाम रूप बिल्कुल नहीं है ऐसी जो कारणावस्थोपाधिक नाम रूप की अव्याकृत दशा में जो सत है, है उस सत का विचार करके अस्तित्व उपलब्ध उस सद वस्तु का विचार करके देखो तुम और वो सद वस्तु अलग नहीं है और इससे फिर क्या होगा तत्व भाव प्रसिद्धि सत्व तो भाव प्रसन्न हो जाएगा प्रसन्न हो जाएगा माने निराभरण हो जाएगा साध में कमी कहाँ तक जहाँ तक पर्दा हाँ। कपट ही प्रसाद का लक्षण है ये कपट माने माया माया छल कपट कपट माने भी पर्दा ही होता है वो क माने सुख कल्याण और पट माने पर्दा है ना पट पट माने पर्दा सुख पर पर्दा मस्तिष्क पर पर्दा ज्ञान पर पर्दा असलियत पर पर्दा इसका नाम कपट है कपट माने असलियत पर पर्दा प्रसिद्धति का अर्थ है फाड़ दिया सारा पर्दा नष्ट कर दी सारी दूरी है ना अब इंतजार और देव हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर करते हमारा यार है हमें हमन को बेकरारी क्या तो तत्व प्रसिद्ध थी तो न कार्य की उपाधि है न कारण की उपाधि है पहले ये बता पूछा था कि हमको वो बताओ अब आप एक बार परिषद के प्रारंभ का ध्यान करो अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र च कृता अन्यत्र भूताच भव्याच यश्यसी तद बद नचिकेता ने जमराज से प्रश्न किया था कि हमको वो चीज बताओ जो धर्म अधर्म से परे है माने कर्म का फल नहीं है है ना कर्म का फल नहीं है माने स्वर्ग नरक में नहीं है इस बात को आप सीख जो धर्म धर्म का फल नहीं है माने जो पशु पक्षी जोनी में नहीं है पशु पक्षी जोनी और मनुष्य जोनी मनु, देव जोनी मनुष्य जोनी दैत्य जोनी ये क्या है का ये धर्मा धर्म का फल है नरक स्वर्ग वैकुंठ आदि जो है ये क्या है का अंतरंग बहिरंग धर्म धर्माधर्म के फल है तो अन्यत्र धर्माधर्मा जो धर्म और धर्म से अलग है माने कर्म का फल नहीं है एक बात और अन्यत्र अन्यत्र कृपा कृपा जो कार्य कारण नहीं है माने द्रव्य की कोई अवस्था नहीं है ये दूसरी बात है, है? द्रव्य की कोई अवस्था नहीं है और अन्यत्र भूताच भव्याच जिस जो काल की कोई अवस्था नहीं है जो कर्म फल रूप अनंत कोट जोनिया चौरासी लाख कर्म की फल भूता चौरासी लाख जोनिया नहीं है जो नरक स्वर्ग वैकुंठ गोलोक आदि अंतरंग बहिरंग धर्म के फल और अधर्म के फल नरक आदि ये नहीं है और जो कार्य कारण रूप नहीं है अंतरंग बहिरंग रूप नहीं है जो भूत और भविष्य रूप नहीं है माने जिसमें देश काल वस्तु कर्म कर्तापन भोक्तापन आदि का किंचित संबंध नहीं है वो वस्तु हमको बताओ तो प्रतिज्ञा वहाँ की थी जब राज ने अन्यत्र दूर मतो विदिता अविदिता भी हम ऐसी बात का तुमको उपदेश करते हैं जो विदित से भी दूर है और अविदित से भी दूर है जिसको कभी ज्ञान ने नहीं छूया जिसको कभी अज्ञान ने नहीं छूया ज्ञान ने अपने विषय रूप से छू करके ज्ञ नहीं बनाया और आश्रय रूप से छू करके ज्ञानी नहीं बनाया तब तो ज्ञानी नहीं होता ज्ञ नहीं होता अगर ज्ञान उसको छूए तो विषय रूप से ज्ञान यदि छुएगा कि ये तत्व है तब तो वो ज्ञ हो जाएगा और यदि आश्रय रूप से छुएगा कि जो हमारा आश्रय है तो तत्व तो तत्व ज्ञानी हो जाएगा तो ज्ञान जिसको आश्रय और विषय दोनों ही प्रकार से नहीं छू सकता और अज्ञान भी जिसको आश्रय और विषय दोनों रूप से नहीं छू सकता न तो तत्व अज्ञात है क्योंकि स्वरूप है अज्ञात कहाँ है मैं हूँ अज्ञात कहाँ है हाँ। बोले कि तब ज्ञात है कि ज्ञात कहाँ है अपनी अद्वितीयता पूर्णता ज्ञात कहाँ हो रही है तो ये जो ज्ञात और अज्ञात दोनों से विलक्षण अपनी अद्वितीयता और पूर्णता तो ज्ञात नहीं हो रही है और अपना आपा अज्ञात नहीं हो रहा है हम अपने आप को जानते भी हैं और अनंत रूप से जानते भी नहीं है हम ज्ञान के विषय रूप से जानते नहीं है, है? और स्पष्ट रूप से जानते भी नहीं है और ज्ञान के विषय रूप से जानते नहीं है, है? और मैं नहीं हूँ या नहीं जानता हूँ ये वृत्ति तो कभी होती नहीं तो ऐसी वस्तु कौन सी है बोले तत्व भाव है तो वो कैसा है का द्वय स्वभाव है नेत नेति जो कुछ अपने से सिवाय है देश लंबाई चौड़ाई अगर अपने से अलग है तो निषेध करो उसका नहीं है ये है ही नहीं है और पहले पीछे काल अगर अपने चलन भागता है नेति नेति नहीं है बाहर भीतर भागता है कि नहीं है कपूर भाकर भागता है कि नहीं है है ना कबूल यह और वह भागता है कि नहीं है नेति नेति इति न इति न ऐसा अस्थूलम अनणु आरस्वम न वो स्थूल है न अणु है न रस्व है अदृश्य अनात्मे अनुरग अनुरुक्त अनिलय ने हाँ, ऐसा है प्रसीदती अभिमुखी भवती आत्म प्रकाशनाय आत्म तत्व के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो जो पहले अस्थि अस्थि अस्थि माने सत का लक्षण क्या है और सत का प्रमाण क्या है तो सत का लक्षण तो है अबाध्य होना जिसको कभी कोई ना न कर सके उसका नाम सत्य दुनिया में कोई भी अपने को ना नहीं कर सकता इसलिए अपना आपा सत उसको सत बोलते हो तो सत का लक्षण क्या है कि जिसके मिथ्यात्व का ज्ञान कभी न हो आप भले इस बात को अपने ध्यान में बैठा लो बाध शब्द का अर्थ मिटना नहीं होता हो बाघ शब्द का अर्थ होता है जिसको कभी कोई कहीं कोई भी ब्रह्मा भी ईश्वर भी है जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न कर सके उसको बोलते हैं अबाध्य अपने आप को कोई मिथ्या निश्चय नहीं कर सकता कीड़ा मकोड़ा भी नहीं कर सकता ने? और बड़ा भारी विद्वान भी नहीं कर सकता और ईश्वर भी नहीं कर सकता यदि वो अपने आप को मिथ्या निश्चय करे तो निश्चय का साक्षी निश्चय का प्रकाशक कौन रहेगा इसलिए अबाध्य का अर्थ होता है है ना जिसके मिथ्यात्व का निश्चय कभी कोई किसी भी प्रमाण से न कर सके तो ये तो ये क्या हुआ कि ये सत्य का लक्षण हुआ सत्य का लक्षण है अबाध्यत्व है माने मिथ्यात्व निश्चय की योग्यता का विरह है मिथ्यात्व योग्यता निश्चय विरहित्व अबाध्यत्व अबाध्यत्व सत्यत्व लो एक बात तो ये हुई अब प्रमाण क्या है का प्रमाण ये है कि नेति नेति का निषेध करके जब तुम बैठते हो तो अब तक जितने ब्रह्म के अनुभवी पुरुष हुए हैं कृष्ण का अनुभवी दूसरा होगा राम का अनुभवी दूसरा होगा बोला स्वर्ग का अनुभवी दूसरा होगा प्रपंच का अनुभवी दूसरा होगा राजनीति का अनुभवी दूसरा होगा मानवता का अनुभवी दूसरा दूसरा होगा विश्व नीति का अनुभवी दूसरा होगा जिसने तत्व के अद्वितीयत्व का अनुभव किया है अब तक जितने भी अनुभवी पुरुष हुए हैं ब्रह्मानुभवी है ना और वे वेद वाणी को दोहराते रहे हैं तत्वमसी तत्वमसी तत्वमसी वो है प्रमाण है ना तो आत्मा के ब्रह्म होने में आत्मा के ब्रह्म होने में है ना असल में स्व के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए सनासी का प्रमाण नहीं होगा रसायन का प्रमाण नहीं होगा आख का नाक का प्रमाण नहीं होगा का इसमें इसमें अनुभवी का वचन प्रमाण होगा यो मान लो बोले अनुभवी का वचन भी अनुभवी कौन है ऐसा कैसे मालूम पड़े है? तो जो अद्वितीयत्व का आत्मा और ब्रह्म के अद्वितीयत्व का निरूपण करे सो अनुभवी बोले आत्मा और ब्रह्म की अद्वितीयता का निश्चय करने वाला ही अनुभवी है इसमें क्या प्रमाण है ना बोले हम ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं अद्वितीय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं तो जिसने अद्वितीयता का अनुभव किया हो है ना उसी का जो अपौरुषेय है ना अंतकरण के द्वारा गृहित आपको अंतकरण और आत्मा का भेद बताया था ना अंतकरण वो है जो बाहर से सामग्री इकट्ठा करता है और इकट्ठी की हुई सामग्री को बाहर फेंकता है उसका नाम अंतकरण है है ना खाने का पीने का करने का भाई का बंधु का संस्कार बाहर से भीतर लिया अंत क्रियते अनेना अंतकरणम जो बाहर के संस्कार को भीतर ले ले उसका नाम अंतकरण वो तो वो अंतकरण लेकिन आत्मा जो है वो बाहर के संस्कार को भीतर नहीं लेता है वो क्या है तो वो स्वयं प्रकाश है वो तो अंतकरण और अंतकरण के विषयों को प्रकाशित मात्र करता है तो ये जो प्रकाश है ये देश के काल के वस्तु के संस्कार से संस्कृत अंतकरण है और देश काल वस्तु के संस्कार की कल्पना का प्रकाशक अपना स्वरूप है तो ये कहता है तो बोले ये दृश्य नहीं है इसकी दूसरी आत्मा नहीं है ये निर्वचनीय नहीं है और अनिलयन है तो ब्रह्मानुभूति तुम्हें हुई कि नहीं कब हुई क्या तुम्हारी ब्रह्मानुभूति का क्या स्वरूप है क्या हमारी ब्रह्मानुभूति का स्वरूप ये है कि आत्मा और ब्रह्म जुदा जुदा नहीं है आत्मा और संसार जुदा जुदा नहीं है ब्रह्म और संसार जुदा जुदा नहीं है, है? और आत्मा आत्मा जुदा जुदा नहीं है देखो ना पांच प्रकार के भेद की निवृत्ति हुई कि नहीं हुई जगत का जगत से भेद एक जगत का जीव से भेद दो जीव का जीव से भेद तीन जीव का ईश्वर से भेद चार और ईश्वर से जगत का भेद पांच ये पांचों भेद तुम्हारे कट गए कि नहीं कट गए माने तब आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव ब्रह्म दृष्टि ही आत्म दृष्टि है ये दृष्टि तुम्हें प्राप्त हुई कि नहीं तो तब इस दृष्टि का उल्लेख कैसे ये दृष्टि प्राप्त हुई बोले आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होने से है ना अपनी दृष्टि का उल्लेख करो वर्णन करो बोले आत्मा और ब्रह्म एक है, तो मतलब ये हुआ कि चाहे अंग्रेजी बोलो चाहे संस्कृत ये बात है ना ये बानुभूति का उल्लेख इस रूप में होना चाहिए कि अद्वय आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है है ना आत्मा अद्वय है माने हम ब्रह्मास्मि सत्य प्रज्ञान हम ब्रह्म हाँ। हम दुनिया से अलग हैं ये उल्लेख नहीं ये अनुभूति नहीं हम संसार से असंग हैं ये उल्लेख ये अनुभूति नहीं तो तत्व भाव प्रसिद्धि का अर्थ हो गया कि जहाँ तत्व ने निराभर रूप से ये प्रकट कर दिया प्रसिद्धि ये प्रकट कर दिया कि मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है मैं ही मैं हूँ है ना आत्मा में परमात्मा में जगत में शत्रु में मित्र में हाँ। ये नारायण संसार के व्यवहार में जितने भेद हैं उनकी उपस्थिति में भी मैं अद्वैत वो बोले भाई आप विद्या ग्रंथि के विकिरण पर विचार करें ये बड़ा अद्भुत विचार है आपको यदा सर्वे प्रमुच्यंते ये पढ़ने से जैसा श्लोक मालूम पड़ता है मंत्र मालूम पड़ता है वैसा नहीं है हाँ इसमें कई शब्द विचार करने योग्य हैं गुजराती लोग बोलते हैं ना भोजन परसते समय बोलते हैं मुख दो मुख दो हाँ। तो मुख दो माने छोड़ दो डाल दो परस दो बोलते हैं मुख दो ये मुच धातु है संस्कृत में मुच धातु उसी का ये मुक्ति मुक्ति शब्द उसी से बनता है मुक्त शब्द उसी से बनता है है ना जैसे हमें कोई रस्सी बंधी हो तो उसको अगर खोल के हटा देंगे ना खोल के उसको धरती में डाल दें तो उसको क्या बोलेंगे कि वो रज्जुर मुक्ता रज्जु फेंक दी गई फेंक दी गई तो ये मुक्त जो है ना जदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा ये हृदय श्रता ये कहते हैं आत्मा मुक्त नहीं होता काम मुक्त होता है आप आप इस आश्चर्य पर कभी विचार करना आत्मा मुक्त नहीं होता है काम मुक्त होता है ये क्या है इसके टीकाकार जो है शंकर वास्तव पर आनंद बोधाचार्य गोपाल स्वामी आनंद विज्ञान स्वामी गोपाल स्वामी बहुत बहुत मजा किया है तो बोले काम मुक्ति का काम मुक्ति का क्या अभिप्राय है हाँ ये मुक्ति मिली आत्मा को मुक्ति मिली कि काम को मुक्ति मिली बोले आत्मा तो सहज में ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है मुक्ति तो काम को मिले <laughs> तो अच्छा ये प्रसंग आपको कल सुनाऊंगा